बीच में भी सत्य से सवाल चाहिए चतुर्थो जय पठ्यति व्याख्या आज यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय का चौथा मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या की जाएगी ओम कया सदा कया मेरे सज्जनों इस मंत्र में अनेक बातें प्रेरणा देने वाली हैं उनमें से कुछ को समझाने का प्रयास किया जाता है एक बात तो ये कही इसमें कया अर्थात ईश्वर हमारी किस रीति से रक्षा करता है ये हम अच्छी तरह नहीं जानते यद्यपि तो जानते हैं पर पूरी तरह से ईश्वर हमारी जो रक्षा करता है उसको हम अच्छी तरह से हम इतना जानते हैं कि ईश्वर ने ऐसी नाड़ियां बनाई कि प्रसिद्ध है कि वे अशुद्ध रक्त को लेके चलती हैं और कुछ ऐसी बनाई शुद्ध रक्त को लेके शरीर में उसका प्रवेश करती है और आगे बढ़ो उसमें कितनी सूक्ष्म सूक्ष्मतम नाड़ियां हैं उन सारियों को व्यक्ति नहीं जानता कि कितनी नाड़ियां हैं और वो कौन कौन सी इतनी सूक्ष्म है कहां पर काम करती उपनिषद में एक प्रकरण उपस्थित हुआ उसमें लगभग ऐसी गणना आई हृदय की नाड़ियां बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख और कुछ हजार आदि आगे की संख्या हृदय की नाड़ियां आप में से कोई बताने वाला हो हमने सायकाल दूध किया था और भोजन भी खा उस खाए पिए का आयुर्वेद की दृष्टि में रस रक्त मेद मांस हड्डी मज्जा आगे चल के ओज आप में से कोई ये बताए कि वो बनते कैसे रस कैसे बनता है फिर रक्त कैसे क्या विज्ञान है वहां पर रस बनाने वाला और रक्त बनाने वाला क्या विज्ञान है चर्बी बनाने वाला क्या विज्ञान है वहीं पर शरीर में और इस चर्बी से फिर वह हड्डी बनाने वाला क्या विज्ञान है मज्जा जो जोड़ों में चिकना पदार्थ होता है उसको कौन बनाता है उससे फिर वीरे की उत्पत्ति कैसे होती है इनके मैल अप, अपने आप अच्छा माताएं के पेट में खाने पीने से दूध बनता है वो कैसे बनता है कोई बता सकती है आप में है जी वो दूध बन जाता है एक बड़ी रोचक है बात सुनाता हूं वेदांत के प्रकरण में एक बात आई कि सृष्टि अपने आप बन जाती है नास्तिक ने बात कही उसने कहा कि अपने आप कैसे बन जाएगी तो नास्तिक कहता है जैसे कि गऊ घास खाती है दूध बन जाता है अपने आप बन जाता है यानी अच्छा आस्तिक ने एक बात कही अच्छा ये बताओ जो बैल भी घास खाता है उसका दूध क्यों नहीं बनता <laughs> कहीं में देख लो ये माताएं खाती हैं भोजन फल आदि और पुरुष भी खाती हैं तो इनके शरीर में दूध बनता है और हमारे शरीर में अपने आप बनता तो हमारे भी बनना चाहिए था तो हम नहीं जानते कितनी चीजें किस रीति से हमारी ईश्वर रक्षा करता है बहुत कम समझते हैं यदि इसको देखा जाए ध्यान से तो आप ये जानना उपनिधकारों की भाषा में ये सारा संसार ईश्वर की ही व्यवस्था से ज्ञान विज्ञान से नियमों से जीवित है यदि ईश्वर का ज्ञान विज्ञान व्यवस्था बल इसके साथ में हो तो ये एक सेकंड जीवित नहीं रह सकता तो इसलिए कहा गया इस रीति से परमात्मा हमारी रक्षा करता है हम अच्छी तरह से नहीं जानते बहुत कम जानते यदि आपको यह अच्छा पता चलता जाए अधिक मात्रा बढ़ती जाए ईश्वर किन की उसी प्रकार से आपका ज्ञान भी आपकी रुचि भी ईश्वर में बढ़ती चली जाएगी फिर कहा चित्र यह चित्र शब्द का प्रयोग है चित्र का है अद्भुत विचित्र कोई ऐसा पदार्थ है न उसकी सीमा दिखती न उसका रूप दिखता न भार दिखता न चलता दिखता न आता दिखता न जाता दिखता न यंत्रों से दिखता न आंखों से दिखता ऐसी भी कोई चीज होती है क्या देखेंगे कि जब साधक या विचार के बैठ के सोचता है कि मैं भगवान को मानता तो हूं मैं ध्यान भी करता हूं पर उसकी कोई सीमा तो होनी ही चाहिए आएगा ना जवाब में नहीं आएगा वो ये यहां तक है अच्छा कोई चीज हम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ कोई सीमा तो उपलब्ध होती है ईश्वर की कोई सीमा और अद्भुतता देखो हम सारे मनुष्य मन में कुछ सोचते हैं बुरा और अच्छा वाणी से कुछ न कुछ बोलते रहते शरीर से कुछ क्रियाएं करते रहते आपको बताया था मन इंद्रिया शरीर आदि से जो विशेष चेष्टा होती है उसका नाम कर्म है और मन वाणी और शरीर आदि से होने वाली चेष्टाओं का फल भी मिलता है ये आप ध्यान देना हम इतने लोग यहाँ रहते हैं हमारी मन की कितनी क्रियाएं हुई एक दिन में और वाणी की कितनी हुई और शरीर की कितनी हुई ईश्वर का हिसाब कैसे होगा वहां यदि हिसाब नहीं होगा तो फल कैसे देगा कल्पना करो न्यायकारी माना जाता है ईश्वर को ईश्वर के क्षेत्र में ईश्वर के द्वारा अन्याय नाम की कोई क्रिया हो ही नहीं सकती ऐसा माना जाता है न अन्याय हुआ न आज होता है और न आज होता कई लोग कह देते हैं देखिए जी समाज में जाके देखो न्यायालय में जाके देखो कचहरी में देखो वहां देखो विद्यालय में देखो घरों में देखो परिवारों में देखो क्या मिलता है अन्याय हो गया तो आपने देखा ये अन्याय कहां पर हो रहा है ये ईश्वर की सृष्टि में हो रहा है ईश्वर की सृष्टि के बाहर उभर के बोलो करवाड़े फिर तो फिर ईश्वर की शक्ति में और तो जीवों की शक्ति हुई अब यही तो एक तो गलत उत्तर ठीक दिया दूसरा आपका उलझ गया कुछ तो तो सर्वव्यापक मानते हैं तो, तो ऐसा कुछ उसके अंतरित हो रहा है ना जैसे खा रहा हूं कर तो विषय पकड़ने में कमी आई ईश्वर की सृष्टि में हो रहा है तो ईश्वर की सृष्टि के अंतर्गत है वो संचालक है उसका ये कहना है यदि हम कहते हैं जीवों की सृष्टि में है तो ईश्वर की सृष्टि वो नहीं मानी जाती भले ही वह विद्यमानता हो दोनों की पर जीव की सृष्टि अलग है और ईश्वर की सृष्टि अलग है ये राजनीति में समाज में परिवारों में जो अन्याय होता है रिश्वत डाकी चोरी वो ईश्वर की सृष्टि नहीं है वह जैवी सृष्टि है कौन सी है जीवों की सृष्टि है ये भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि ये न्याय जितने हो रहे हैं कितने तो यही कह देते हैं कि ईश्वर करवा रहे आज ध्यान दो हमने बात जाननी थी इतनी लंबी व्यवस्था है मुनिष्ठ तो पांच अरब और कुछ उससे ऊपर होंगे पशु पक्षी कीट पतंग मछली और आप ध्यान दिए एक क्षेत्र में इतने कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति भूगोल में कितने होंगे और कितने लोग लोकांतर में हो सकते हैं ध्यान देना उन सब की व्यवस्था उनके सबके शरीरों की रचना उनके सबके कर्मों की व्यवस्था कैसे कोई कल्पना करेगा कितना भी चित्र है ईश्वर चित्र अद्भुत मनुष्य कल्पना नहीं करेगा आपने सुना है भगवान की एक ये भी क्रिया है जिनसे हमारी रक्षा करता है वो जान लेता है क्या करता है हमको ज्ञान देता है तो ज्ञान देता है ये तो हमने सुना देता कैसे ये कुछ ठीक पता नहीं चला आप मुझे कोई जानता हो तो बताओ विद्वानों को छोड़ के दूसरे लोग बताओ नहीं बता सूचना को तो सेट करके हाँ दिया कैसे दिया ये बता हाँ हाँ जी रण सिंह जी वैसे तो प्रारंभ में तो विष्णु द्वारा अंत प्रेरणा से व्यक्त वैसे भी सृष्टि की रचना देख करके ज्ञान पता लगता है अब ये जो ज्ञान देता है परमात्मा भाई ये देता कैसे है अद्भुतता देखना कोई व्यक्ति रोगी हो जाए बीमार हो जाए तो उस समय शक्ति कैसे दी जाती है बताओ नहीं पता क्या चलाते हैं है हाँ जी नहीं आई बात समझ रोगी तो बेहोश हो गया उसमें कैसे चढ़ाया उसने चढ़ाई और रोगी को पता चला नहीं पता चला तो परमात्मा ज्ञान देता है जब ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है ना हमारे अंदर ये ज्ञान दे देता है इतना आदमी था परमात्मा नहीं समझे आप न्याय बात नहीं आई आ गई अच्छी तरह समझ लो अपने लिए भी ये समाधान है जो प्रश्न उठाने वाले के लिए भी ये बन जाएगा जब आपके सामने प्रश्न खड़ा होगा भगवान ज्ञान कहीं देता तो उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा हाथ पैर की क्रियाएं जो हम करते हैं ना ईश्वर से को बनाता है तो क्या ईश्वर को हिलना जुलना पड़ता है क्या बोलो और बिना हिले जुले काम कैसे करेगा वो कुमार गढ़ा बनाता है पिंड रख दिया डंडे से चाक घुमाया तुम हाथ डाल फिर धागे से काटा अब तब बिना हिले जुले कैसे करेगा तो भगवान बिना हिले जुले शेटी को बनाता है माता पिता बच्चे को रटाते हैं अ अ ई ई ये ये अब भगवान तो वही ग्लूकोज की तरह चला देता है ये <laughs> आत्मा को पता नहीं चलता अच्छा एक और बात है हमको भगवान आनंद देता है आपने सुना है ना कैसे देता है चम्मच से देता है कड़छी से देता है जैसे माँ हमको खिलाती या कैसे खिलाता बताओ तो वो भी ग्लूकोज की तरह देता है आप समझ नहीं पाते उसको हमको जो आनंद आता है ना समाधि में वहां कोई कड़छी थोड़ी बचती है गैस चूल्हा थोड़ा ही चलता है यहाँ यहाँ तो आपको चूल्हा चाहिए गैस चाहिए ये चाहिए बघार लगाओ ये लगाओ जब जाके एक, एक मुंह मारने के लिए थोड़ा साधुआ बनता है अब भगवान की स्थिति क्या है जीवात्मा समाधि लगातार भगवान जो है उसको आनंद से परिपूर्ण कर देता है और देखो कितना बड़ा संसार है सबके अंदर बैठा बैठा सारी व्यवस्था कर रहे हैं अच्छा भगवान हमको देख रहा है ये शिक्षण जीव चला रहे हैं या नहीं है? नहीं समझते आपके ये शिक्षण जीव में इतनी माताएं हैं ये पुरुष हैं इनको मैंने ये जन्म क्यों दिया ऐसे जानता है और अमेरिका में कौन जानता है वही और विचित्र बात है तो हम ध्यान दे रहे थे कि परमात्मा की ओर से हमको कैसे कर्मों का फल मिलता है और ज्ञान हमको कैसे मिलता है और आनंद भी हमको कैसे मिलता है उनका उत्तर किसी दृष्टांत से हम देते हैं दृष्टांत के बिना संगति नहीं लगती बात की पर कई बार प्रश्न भी खड़े होते हैं वो जो प्रश्न खड़े होते हैं उनका उत्तर भी आना चाहिए एक प्रश्न खड़ा होता है यदि ईश्वर सर्वव्यापक है कण कण में व्यापक है तो आनंद भी कण कण में व्यापक है यदि ईश्वर सर्वव्यापक है और ज्ञान स्वरूप है ज्ञान भी उसमें विद्यमान है तो ज्ञान भी सर्वत्र व्यापक है समझ लो फिर ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो आनंद भी सर्वत्र विद्यमान है ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो ज्ञान भी सर्वत्र विद्यमान है तो प्रश्न खड़ा होता है जब ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है कण कण में उसकी उपस्थिति है तो प्रश्न उठाने वाला उठाता है तो प्रत्येक व्यक्ति आनंदित क्यों नहीं हो जाता सबको तो उत्तर दो आनंद अपना अधिकार में एक दृष्टांत देता है वो कि एक घर में आग जला दी लक्कड़ डाल दिए धर धर धर धर आग जली लगते निकल रही हैं या उस कमरे का कोई अवय अवे ऐसा है जो गर्म ना हुआ हो बोलो जी पूरा गर्म जैसे वो अग्नि में ताप गुण उष्ण का गुण है और सब जगह विद्यमान है कमरे में कोई जाएगा जलेगा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति आनंदित रहना चाहिए ये भी भगवान सर्वत्र है आनंद स्वरूप है तो इसका उत्तर दूंगा दो प्रकृति की तरफ रहा है उसके साथ साथ प्रकृति भी है अब आपको उत्तर नहीं आया समझ अनिरुद्ध अधिकार में हाँ अपने जसूबाई जी बोल रहे हैं जसूबाई जी वो उत्तर दे रहे हैं जो इन्होंने बार बार समझा सुना नहीं तो आप नहीं आए तो आपको नहीं आया समझ में आपने सुना तो ध्यान नहीं दिया इन्होंने कहा कि ध्यान आनंद जो हो ईश्वर के अधिकार में है जो पात्र है ज्ञान क्रम उपासना जिसकी ठीक है उसको भगवान देता है जो पात्र नहीं है उसको ज्ञान भी सर्वत्र व्यापक ईश्वर का ज्ञान और हमें से जो पात्र है ईश्वर उस ज्ञान को हमको देगा पात्र नहीं है तो इसलिए ये आक्षेप जो किया जाता है सर्वव्यापक ईश्वर को मानने वाले से पूछा जाता है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है तो आनंद प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए कोई रोगी नहीं होना चाहिए सभी सुखी होने चाहिए किसी को दर्द पेट दर्द सिर दर्द वो होना ही नहीं चाहिए आनंदित नहीं चाहिए इसलिए ईश्वर को तब मानो परम नाम वो ये कहिए ठीक है तो फिर इसमें एक बात कही ईश्वर भी है सदा वृद्ध ईश्वर सदा वृद्ध है वृद्ध सदा वृद्ध का अर्थ है सदा ईश्वर बढ़ा चढ़ा रहता है घटता कभी नहीं आप बूढ़े हुए नहीं हो या जवान मानते मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं आप बूढ़े हुए नहीं हुए जैसे आप बूढ़े हुए ईश्वर बूढ़ा ये पेट भी बूढ़ा हो जाएगा और सूर्य भी बूढ़ा होगा सारे बूढ़े होंगे पर ईश्वर सदावृत है सदा जवान रहता है घटता ही नहीं कभी सदावृत है इसलिए कहते हैं ईश्वर का ज्ञान बल क्रिया उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता अनंत ज्ञान अनंत बल अनंत आनंद अनंत क्रिया कितने हो गए हाँ जी ईश्वर का ऐश्वर्य जी क्या समझे इनका ध्यान और कहीं था पता चल जाता है ये व्यक्ति सुन रहा है नहीं आप ये मतवाना मुझे दिखता नहीं है हाँ मुझे बैठे रहो चुपचाप इधर उधर सोचते रहो ईश्वर का ऐश्वर्य क्या बताया अनंत बल अनंत ज्ञान अनंत आनंद आनंद और अनंत क्रिया बस इस ऐश्वर्य को याद रखो तो वृद्ध है उसमें ह्रास ज्ञान का ह्रास नहीं होता बल का ह्रास नहीं होता आनंद का ह्रास कभी नहीं होता क्रिया का ह्रास नहीं होता बूढ़ा होने पर यही नहीं चलता आज दशत करे जैसे भूमि को उखाड़े <laughs> परमात्मा की क्रिया एक जैसी रहती क्रिया में अंतर नहीं आता फिर अंत में एक बात कही है चेतया सचिष्टया कृता हमारी बुद्धि उत्तम बुद्धि को भगवान सदा उत्तम मार्ग पर प्रेरणा करे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है वो